यकीनन आपका रब जानता है कि आप दो तिहाई रात के करीब या उसका आधा या उसका एक तिहाई हिस्सा कयाम करते हैं और उन लोगों में से एक ग्रोह भी जो आपके साथ हैं और अल्लाह ताला ही रात और दिन का अंदाज़ा रखता है उसने जान लिया कि तुम उसको हर गिज ठीक शुमार नहीं कर सकोगे सो उसने तुम पर मेहरबानी की तो आसानी से जितना हो सके कुरान पढ़ लिया करो उसने जान लिया कि तुम में से कुछ मरीज भी होंगे और कुछ दूसरे लोग जो जमीन में सफर करेंगे वो अल्लाह ताला के फजल में से तलाश करेंगे और कुछ दूसरे लोग अल्लाह ताला की राह में लड़ेंगे चुनाचे आसानी से जितना हो सके पढ़ लिया करो और नमाज कायम करो और जक़ात अदा करो और अल्लाह ताला को कर्ज दो अच्छा कर्ज और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह ताला के यहाँ मौजूद पाओगे कि वो बेहतर और सवाब में ज़्यादा बड़ी है और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो बिलाशुबा अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है